और जिस दिन हम हर उम्मत में से उन लोगों के ग्रोह को जो हमारी आयतों को झुटलाते थे घेर घार कर लाएंगे फिर वो सब के सब अलग कर दिए जाएंगे